ओमाद्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुस्रोत्रमथो सामवेदीय छांदोग्य उपनिषद द्वितीय अध्याय के तेईसवें खंड के प्रथम मंत्र के फिर विचार चल रहा है त्रयो धर्म स्कंधा ये मंत्र में आया धर्म के तीन शाखाएं हैं धर्म जिसमें टीका है एक तो गृहस्थाश्रम है माने गृहस्थाश्रम माने केवल विवाह आदि करने मात्र से क्यों अध्ययन का ये गृहस्थाश्रम अग्निहोत्रादि यज्ञ होता हो और ऋगादि वेद का स्वाध्याय होता हो और वेदी के बाहर भी दान देता हो मुक्त हस्त हो उसको गृहस्थाश्रम कहते हैं एक ऐसा दूसरा तपय विद्या का है ब्रह्मचर्य बानप्रस्थ आश्रम जिसमें कृष्ण चामराणी तप करना है सुखाना है शरीर को और केवल आश्रम धर्म को में बैठे हुए सन्यासी है ज्ञान नहीं है आश्रम धर्म मात्र में रहने वाले सन्यासी भी उद्वितीय है एवं है और तृतीय होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी अत्यंतम आत्मान गुरुकुले अत्यंतम आत्मान साधन आचार्य कुल ये तृतीय होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी उसके बाद कहा सर्वे ये थे पुण्यलोक आप ये सबके सब तीनों चारों पुण्यलोक वाले होते मान विशेष स्थान प्राप्त करते किंतु ब्रह्म सस्तो अमृत को नहीं उसको अलग किया ब्रह्म में सम्यक प्रकार से ठीक हो गया शरीर भाव से ऊपर है जो ऐसी स्थिति में पहुंचा है वह अमरत्व को प्राप्त करता है ये कहा था तो इसका अर्थ भी कह दिया सिद्धांत संबंधी अर्थ हो गया था बीच में भारतीय प्रपंच घोरसा की आए जो कि ज्ञान कर्म समुच्चय गानी है किंतु वास्तविकता यह है ज्ञान होने पर कर्म नहीं हो सकता जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक कर्म होता है इस तरह से देहात्म बुद्धि जब तक है तब तक कर्म होगा देहात्म बुद्धि से ऊपर हो गया है तो कर्म नहीं हो सकता ज्ञान और कर्म का समुच समुचय हो नहीं सकता हाँ पूर्व में अंतकरण आदि शुद्धि के लिए कर्म उसके बाद उसके माध्यम से आगे ज्ञान माने परंपरा से क्रम समुच्चय तो है सम समुचय हो नहीं सकता पहले कर्म बाद में ज्ञान जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक आश्रम विहित कर्म जिस वर्ण का होगा जिस आश्रम उसलिए कर्म निष्काम भाव से कर्म करे जिसका परिणाम अंतकर्म की शुद्धि होगी उसके पश्चात एक वेदांत वाक्य अंतकर्म शुद्ध होने पर इसका अर्थ समझ में आएगा तब तत्वसी तो आदि को समझेगा जब तक अंतकर्म शुद्ध नहीं समझता नहीं है इसके लिए कर्म की आवश्यकता है किंतु पूर्व में है ज्ञानोत्तर कर्म नहीं हो सकता ये भाष्यकार का पक्ष है तो उनका है ज्ञान कर्म समुचय साथ साथ ज्ञान भी हो कर्म भी कैसा जब तक अपना वर्णाश्रम विहित कर्म जिसके लिए लगा होगा कर्म करेगा जब कर्म से फुर्सत मिलेगा उस समय में हम भी हो जाएगा समुचय होगा साथ साथ होगा ऐसा कहा था इन्होंने अपने भाष्य में सभी आश्रमियों के पूर्व भाष्य में कहा था सभी आश्रमियों के लिए अपना अपना ढंग का कर्म है और उन्हीं में से जो कर्म करते हुए ज्ञान भी प्राप्त कर लेगा तो उस स्थिति में क्या होगा वो ब्रह्मशास्त्र हो गया वो अमृतत्व को प्राप्त करेगा उसी में से अतिरिक्त कोई सन्यासी नहीं होता ब्रह्मशास्त्र कर्म से अलग हुआ कोई होता नहीं है ऐसा इनका पक्ष है उसका आप खंडन करते हैं पूर्व पक्ष हो गया है भाष्य और सिद्धांत भाष्य आ रहा है ठीक है कहते हैं ब्रह्मस्वस्थ समुच्चय अनुष्ठाई यदि वृत्तिकार मतम निराकर होती है ब्रह्मस्थ कौन होता है समुच्चय अनुष्ठाई साथ साथ अनुष्ठान करने वाला कर्म और ज्ञान का अनुष्ठान साथ साथ करने वाला सम समुच्चय का ब्रह्मशास्त्र उसी का नाम है ये वृत्तिकारीय मत है वृत्तिकार संबंधी मत है वृत्तिकार है भारतीय समुच्चय का ब्रह्मशास्त्र वही है कौन समुच्चय समुच्चय अनुष्ठाई ज्ञान और कर्म का समुच्चय अनुष्ठान करने वाला साक्षात करने वाला यदि वृत्तिकार मतम ये वृत्तिकार का अभिप्राय है मत है निराकर यदि भाष्यकार है निराकरण करते हैं भाष्यकार है उस वृत्तिकार का मत का खंडन करते हैं तो भाष्य में कहा न ऐसा नहीं होता है कर्म भी हो और ज्ञान भी हो साथ साथ दोनों होना संभव नहीं क्योंकि विरोधी है कर्म होता है देहात्म बुद्धि से और ज्ञान होता है देहात्म बुद्धि को बाध करके समझ समुच्चय कैसे होगा यह भाष्य में अब ये दिखाएंगे ज्ञान और कर्म का समुच्चय हो नहीं सकता कर्म समुच्चय है पूर्व में ज्ञान कर्म बाद में ज्ञान मान जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक अंतकर्म शुद्धि के लिए कर्म करेगा निष्काम भाव से जब अंतकर्म शुद्ध हो गया वेदांत वाक्य जनित ज्ञान पैदा हो गया हम ब्रह्मास्मि भाव गया पहुंच गया फिर कर्म नहीं होता उस काल में कि देहात्म बुद्धि बच चुकी है वहां कर्म होगा देहात्म तो बुद्धि को लेकर के क्योंकि सभी कर्म वर्ण और आश्रम धर्म लगा करके कर्म का विभाजन है सभी के लिए सभी कर्म नहीं है जो ब्राह्मण का अभिमानी होगा मैं ब्राह्मण हूं ब्राह्मण वास्तव में आत्मा ब्राह्मण नहीं होता शरीर को लेकर के बोला हुआ होता है तो ब्राह्मण कुल में पैदा होगा इसलिए ब्राह्मण कहते हैं इसको ऐसी स्थिति है तो मैं ब्राह्मण हूं जो अभिनिवेश होगा आग्रह होगा वही कर्म करेगा ब्राह्मण के लिए जो भी कर्म है मैं क्षत्रिय हूं ऐसा अभिमान जिसको होगा शरीर शरीर को लेकर के तो क्षत्रियो के लिए जो कर्म का विधान होगा वो करेगा वो करेगा चारों वर्णों में जो जो होगा तत्त वर्ण का अभिमान पूर्वक कर्म होता है माने भेद बुद्धि है उस काल में कर्म करने के लिए कर्ता चाहिए कर्म चाहिए संप्रदान चाहिए अधिकरण चाहिए कर्म चाहिए कई कई चीजें चाहिए किसी स्थान पर कर्म करना होगा अधिकरण की आवश्यकता होगी और जिस साधन से करेंगे कर्म की आवश्यकता होगी कर्म करने के लिए साधन की आवश्यकता होगी किसके लिए वो कर्म किया जा रहा है वो देवता आदि की संप्रदान की भी आवश्यकता होगी कौन कर्म करता है कर्ता की भी आवश्यकता होगी ये सारी बुद्धि रहेगी वेद बुद्धि पूर्वक कर्म होता है कर्म करण कर्ता संप्रदान अधिष्ठान आदि सब चाहिए वहां तभी कर्म हो पाएगा किंतु हम ब्रह्मास्म में सारे बच जाते हैं इसलिए उस मत का खंडन करते हैं ज्ञान का मैं समुच्चय हो नहीं सकता भाष्यकार ये बोलते न कर्म निमित्त कर्मणा कर्मणा निमित्त कर्म निमित्त कर्म का जो निमित्त है क्या है वो कर्म निमित्त कर्म निमित्त विद्या प्रत्यय विरोधा आदि संग्रह वाक्य है कर्म का निमित्त प्रत्यय और विद्या रूपी प्रत्यय दो प्रत्यय है कर्म का निमित्त ज्ञान और आत्म साक्षात्कार रूपी ज्ञान ये दोनों ज्ञानों में विरोध है कहते हैं कर्म का निमित्त प्रत्यय क्या होगा कर्तादि भेद बुद्धि मैं करता हूं और मेरा कर्म है इस साधन से सिद्ध होगा इसके लिए सिद्ध होगा इसमें सिद्ध होगा अधिकरण संप्रदान आदि ये कर्म का निमित्त होते हैं कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अधिकरण आदि कर्म का निमित्त प्रत्यय प्रत्यय सप्तमी का प्रत्यय ष्टी का दो वचन हो दोनों प्रत्यय कर्म निमित्त प्रत्यय और आत्म साक्षात्कार को विद्या कहा आत्मा साक्षात्कार रूपी प्रत्यय अहम ब्रह्माष्टमी प्रत्यय अहम ब्रह्माष्टमी काल में कर्तरादि भेद बुद्धि को बाधना पड़ेगा और कर्म करते समय में कर्तरादि भेद बुद्धि को आरोप करना पड़ेगा तभी कर्म हो पाएगा विरोध है दोनों का कर्म निमित्त कर्म का निमित्त होते हैं कर्ता आदि कारक कर्ता कर्म संप्रदान अधिकार आदि कारक ये कर्म का निमित्त बनते हैं उसका ज्ञान प्रत्यय मान ज्ञान और दूसरा आत्म साक्षात्कार रूपी ज्ञान ये दोनों ज्ञानों में भेद है क्यों वो भेद बुद्धि पूर्वक ज्ञान होता हो कर्म के लिए और आत्मा के लिए अभेद बुद्धि में हो भेद ज्ञान और अभेद ज्ञान दोनों में विरोध है ये संग्रह वाक्य है इसी की व्याख्या आ गई कर्म का निमित्त दिखाते हैं कर्ताधिकारक क्रिया फल भेद प्रत्ययत्म ही निमित्तम ये निमित्त होता है कर्म का कर्ताधिकारक कर्ता कारक करण कारक संप्रदान कारक अधिकरण कारक क्योंकि कोई भी कर्म करेगा कोई व्यक्ति किसी साधन से करेगा कोई व्यक्ति करेगा कर्ता बनेगा वो किसी साधन होगा वो करण बनेगा किसके लिए करेगा वो संप्रदान होगा किस में करेगा तो अधिकरण होगा ये सब कारक भेद होगा कर्म करते समय कर्ता कर्ताधिकारक क्रियाफल कर्ताधिकारक और क्रिया माने कर्म और उसका फल ये कर्म है ये फल मिलना है इस साधन से सिद्ध हो गया सारे भेद बुद्धि रहेगी वहां कर्म करते समय में कर्ताधिकार और क्रिया माने कर्म और फल उस कर्म का जो फल होगा ये सारे का भेद बुद्धि का ज्ञान जो होता है वो ज्ञान वाला होता है निमित्त तुम निमित्तम ऐसा प्रत्यय वाला जो निमित्त है भेद ज्ञान वाला निमित्त को उपादाय ग्रहण करके हम्म, ये सारे भेद बुद्धि का निमित्त जो ज्ञान है ऐसा ज्ञान वाला निमित्त को उपादान कर ग्रहण करके इदम कुरु इदम माँ कार्षी इत्यादि कर्म के लिए बोला ये करो ये मत करो ये बोला जाता है दो ही होता है ऐसा करो ऐसा मत करो ये बोला जाता है सब करके कर्म विधाया प्रवृत्ता कर्म का विधान पैदा उत्पन्न हुए हैं कहा कर्म विधयो हाँ माने क्या है विधि और निषेध दो ही होते हैं कर्म विधि विधि और निषेध दो प्रकार का ये प्रवृत्त होते हैं तच्च निमित्तम ये जो निमित्त है कर्ताधिकारक क्रिया और फल जो निमित्त बना है कर्म करने के लिए तच्च निमित्तम न शास्त्रकृतम ये शास्त्र के द्वारा किया गया निमित्त नहीं है स्वाभाविक है ऐसा करने से मुझे ऐसा मिल जाएगा स्वाभाविक है गवार व्यक्ति भी जानता है खाना बनाएंगे तो पेट की तृप्ति होगी और खाना इस प्रकार बनाया जाता है वो भी जानता है ये शास्त्रकृत नहीं होता है पशु आदि भी जानते हैं ऐसा घास मेरे लिए अनुकूल है इसका प्रतिकूल है वो भी समझते हैं अपने अपने आहार विहार के बारे में और कर्म जो करते हैं कहा ये शास्त्रकृत नहीं है कर्म विधेय क्यों सर्व प्राणी सुधर प्राणी मात्र में है कर्ताधिकारक और कर्म फल निमित्त होता है सभी के लिए कर्म करते समय पशु विचारने जाते हैं घास खाते हैं खाते हैं वो भी जानते हैं सबके लिए हम्म। माने निमित्त कर्तरादि निमित्त शास्त्रकृत नहीं है माने कर्तरादि जो कर्म के लिए निमित्त बने हुए हैं कर्ता कर, करण संप्रदान अपादान आदि वो निमित्त जो है वो शास्त्रकृत नहीं स्वाभाविक है वो स्वाभाविक है ये कहा और ये सभी प्राणी में देखा गया है कर्ताधिकार के विभिन्न और आगे सद एकम एवं अद्वितीय ऐसा जो आत्मज्ञान होगा त्रिकालाबादित तत्व एकम एवं अद्वितीयम एक ही है अद्वितीय है माने स्वगत सजातीय विजातीय तीन भेद से रहित एक ही है ऐसा आत्मैव इदम वेद आत्मैव इदम सर्वम ऐसा वाक्य जो ये सब कुछ आत्मा ये सबको बात करके आत्मबुद्धि में जो पहुंचा हुआ है ब्रह्म इदम सर्वम ये सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसी बुद्धि में जो पहुंच चुका है हाँ, यदि जन्य प्रत्यय शास्त्र से उत्पन्न ज्ञान है आत्मा वेदम सर्वम ब्रह्म वेदम सर्वम ये शास्त्र के माध्यम से ऐसा ज्ञान होता है ऐसा ज्ञान जन्य प्रत्यय विद्यारूप ये विद्यारूप प्रत्यय है बुद्धि ऐसी है स्वाभाविकम क्रियाकारक फल वेद प्रत्यय कर्म विधि निमित्तम अनुपमृत्य न जायते कहते ऐसा जो ज्ञान रूपी प्रत्यय है आत्मय वेदम सर्व ब्रह्म वेदम सर्वम इत्यादि जो ज्ञान रूप बुद्धि है स्वाभाविक बुद्धि को बाधे बिना एक बुद्धि पैदा नहीं होती हम ब्रह्मास्म बुद्धि पैदा नहीं स्वाभाविक क्या है क्रियाकारक फल भेद प्रत्यम क्रियाकारक फल को भेद को जानने ज्ञान कराने वाला जो तो ज्ञान विषय बुद्धि है कर्म विधि निमित्तम यह कर्म के विधि का निमित्त है ये इसका अनुपम वृत्य इसको नाश न करके वो ज्ञान पैदा नहीं होगा हम तो ब्रह्म वेदम सर्वम आत्म वेदम सर्वम ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता इसको बांध कर ही होगा इसलिए दोनों एक काल में होना संभव नहीं <clears throat> भेदा भेद प्रत्योर विरोधार्थ क्योंकि आत्मज्ञान होता है अभेद बुद्धि में और कर्म होता है भेद बुद्धि में कर्ताधिकारक को लेकर के होता है विरोध है दोनों का एक समुचय कैसे होगा दोनों तो का एक साथ कैसे होगा इस सिद्धांत का दोनों नहीं हो सकता नहीं दृष्टांत से बताते इस बात को नहीं तैवीरिक दिव्य चंद्रादि भेद प्रत्यम अनुपृत्य तिमिर अपगमे चंद्रादि एकत्व प्रत्यय उपजाए न उपजाए ऐसा है देखो किसी व्यक्ति को तिमिर रोग लगा था आंख का चक्षु का रोग है तिमिर रोग तिमिर रोग जिसको लग जाए एक एक वस्तु दो दिखता है उसको आंख में जब तिमिर रोग लग जाए तिमिर नाम का रोग होता है वो रोग लगने पर वस्तु एक होगा दो दिखेगा चंद्रमा दो दिखेगा उसको दो चंद्रमा दिखेगा उसको भी पता है दो चंद्रमा नहीं है किंतु मेरे रोग के कारण ऐसा है किंतु अब भेद बुद्धि आ गई चंद्रमा में तिमिर रोग के कारण दो दो चंद्रमा देखा भेद हो गया तैवीरिक द्विचंद्रादि भेद प्रत्यम अनुवृद्ध तैवीरिक द्विचंद्रादि भेद दो चंद्रमा दिखना दो चंद्रमा का भेद रूपी जो बुद्धि है उसको नाश न करके अनुपमृत्य उसको नाश किए बिना तिमिर अवगम है तिमिर रोग हटने पर भी जब तक भेद बुद्धि नाश नहीं होगी तिमिर रोग हट भी गया हो तब भी उसको भेद ही समझेगा वहां दो ही बोलता रहेगा कब तक जब तक वो भेद बुद्धि नाश नहीं होगी तैमीरिक द्विचंद्रादि भेद प्रत्यय अनुपृत्य तैमीरिक द्विचंद्रादि जो भेद बुद्धि है उसको दास न करके उस हाँ, वो भेद बुद्धि जब तक रहेगी तिमिर अपगमे तिमिर हट गया है भले किंतु चंद्रादि एकत्व प्रत्यय न उपजाए थे चंद्रादि एकत्व बुद्धि वो उत्पन्न नहीं हो सकती जब तक वो भेद नाश नहीं होगा ठीक इसी प्रकार यहां भी कर्म के लिए जो भेद है वो भेद जब तक नाश नहीं होगा अहम ब्रह्मास्म बुद्धि नहीं हो सकती कर्तादि भेद जब तक रहेगा उस काल में फिर आत्मा वेदम सर्वम ब्रह्म वेदम सर्वम हो नहीं सकता इसलिए उस भेद बुद्धि को नाश करने के बाद ही अद्वैत बुद्धि होती है द्वैत बुद्धि को नाश करके अद्वैत बुद्धि होती है इसलिए द्वैताद्वैत दोनों बुद्धि एक काल में होना संभव नहीं है ज्ञान कर्म समुच्चय होना संभव नहीं ये बता रहे क्यों विद्या विद्या प्रत्ययोग विद्या और अविद्या प्रत्ययोग विद्या ज्ञान बुद्धि अज्ञान बुद्धि माने ये भेद बुद्धि अज्ञानकालीन है और विद्या बुद्धि माने ये ज्ञानकालीन है तो दोनों में विरोध है विद्या विद्यो प्रत्यय विरोधा माने ज्ञान आत्मसाक्षात्कार और कर्ताधिकार का ज्ञान तो विरोध है भेद बुद्धि अभेद बुद्धि दोनों विरोध होता है तत्र एवं सती तत्र जब ऐसी स्थिति है भाष्यकार कहते हैं तत्र एवं सती यम भेद प्रत्यय उपादाय कर्म विधायक प्रत्यय जिस भेद बुद्धि को लेकर के कर्म का विधान तैयार हुए प्रवृत्त हुए थे कर्म के विधान भेद काल में थे भेद बुद्धि काल में थे तत्र वंशति ऐसा यम भेद प्रत्यय उपादाय जिस भेद बुद्धि को ग्रहण करके कर्म विधय प्रवृत्ता कर्म कर्म का विधान की प्रवृत्ति हुई स यश उपमते जिसका वो भेद बुद्धि समाप्त हो गई कर्म का जो निमित्त थे भेद बुद्धि निमित्त है वो बुद्धि नष्ट हो गई जिसका सामान्य भेद बुद्धि स यश उपर्दित भेद सामान्य भेद वो भेद जिसका नष्ट हो गया सत एकम एवं अद्वितीयम तत्सत्यम विकार भेदो अनृतम इति वाक्य प्रमाण जनित एकत्व प्रत्यय वो कैसे किसके नाश हो गया हो गया भेद बुद्धि कैसे नष्ट हो गई इसकी कहा सत एकम एवं ऐसी बुद्धि में गया है वो भेद बुद्धि को नाश करके वहां पहुंचा हुआ कहा सद एकम एव अद्वितीय सत है एक है अद्वितीय है हाँ, सजाती स्वरूप सजातीय स्वगत विजातीय भेद से रहित है ऐसा ज्ञान हो गया विकार भेदो अंधतम जितने भी विकार वर्ग है झूठा होता है ऐसा समझ गया जो तो। विकार भेदो अंतम सद एकम एव अद्वितीयम तत्सत्यम जो सद है एक है अद्वितीय वही सत्य है त्रिकालाबादी वही वस्तु है और विकार भेदो अनृता विकार वस्तु कार्य वर्ग जितने भी है अंदर झूठा है इतने तक वाक्य प्रमाण जनित है इस प्रकार वाक्य है तत्वसी आदि जो वाक्य है और इधर वाचार विकारो नाम व सत्य इत्यादि वाक्य इसी में आएगा आगे ष्ठ अध्याय में आएगा ये दोनों प्रमाण बुद्धि को लेकर के ये तब वाक्य प्रमाण जनित ना एकत्व प्रत्यय ना वाक्य है तत्वसी आदि हम्म। यह नाना हस्त किंचना तत्वसी आदि जो वाक्य है उस वाक्य प्रमाण रूपी वाक्य है वो उस वाक्य से उत्पन्न जो एकत्व ज्ञान के द्वारा ये उपमर्दित हो गई है भेद बुद्धि जिसकी स ऐसे भेद बुद्धि जिसको नष्ट हो गई है वो व्यक्ति स माने वो व्यक्ति सर्व कर्म में निवृत्त फिर कर्म नहीं कर सकता क्यों कर्म भेद बुद्धि काल में है अब वो अभेद में पहुंच गया है आत्मभाव में पहुंचा है स वो व्यक्ति तो मनुष्य भी निवृत्त हो सारे कर्म से निवृत्त होता हुआ कोई कर्म नहीं हो सकता उसके उस काल में क्यों निमित्त निवृत्त निवृत्त चला गया निमित्त क्या था कर्म का भेद बुद्धि भेद बुद्धि होने से कर्म करता था भेद बुद्धि चली गई उसकी निमित्त निवृत्त है वो निवृत्त हो गया कर्म से ऐसा व्यक्ति सच निवृत्त कर्मा तो जिसका कर्म सारे निवृत्त हो गया समाप्त हो गया कर्म नहीं रहा जिस व्यक्ति हम ब्रह्माष्टमी पहुंचा हुआ ब्रह्म संस्थ उच्चते उसी को ब्रह्म संस्थ शब्द से कहा जाता है जो भेद बुद्धि को बाध करके अभेद बुद्धि पर पहुंचा हुआ है उसी को ब्रह्म संस्थ कहा जाता है कहा सच परिप्राण एवं अन्य से असंभवाद वो होगा सन्यासी में ही हो सकता है अन्य में संभव नहीं क्यों अन्य में यावत जीवन कर्म करना है यावत जीवन अवधोत्र जो ही आदि वाक्य है वो अन्य के लिए तो कर्म भी करते रहे भेद बुद्धि भी बने रहे और साथ में आत्मज्ञान भी संभव नहीं है तो भेद बुद्धि जब तक रहेगी अभेद बुद्धि होना संभव नहीं विरोध है दोनों में भेद और अभेद विरोध है ये भिन्न भी है अभिन्न भी ऐसा तो हो नहीं सकता या तो भिन्न होगा या अभिन्न होगा तो भेद बुद्धि को बाध करे अभेद बुद्धि होनी है वो कैसे बच जाता है वो तो भेद बुद्धि को लेकर के जो कर्म थे वो जिसका नाश हो जाता किसके द्वारा नाश होता है सद एकम एवं अद्वितीयम तत्सत्य एक वाक्य है वही एक शब्द है प्रकालाबाधित एक है और ए लगा दिया सजातीय भेद से रहित है विजातीय भेद से रहित है ऐसा तत्सत्यम वही जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित है वही होता है सत्य तत्सत्य तत्सत्यम सा आत्मा आदि छांदोग में आया इसी ष्टाध्याय में आएगा तो तत्सत्यम विकार भेदो अमृतम हाँ वही सत्य है जो एक अव्यवाह द्वितीयम बाकी विकार वर्ग जितने भी अनिद्र है आचार गुण विकारो नाम अधेयम मृतिका के सत्यम है तो विकार वेदो अनितम जितने भी वाणी का शब्द प्रयोग जहां तक होता है वो झूठे हैं सब इति इस प्रकार वाक्य प्रमाण जनित न एकत्व प्रत्यय न हाँ, ये जो तत्सत्य सदैव सद एकम एवं अद्वितीय तत्सत्यम विकार भेदो अंतम इत्यादि जो वाक्य है इत्यादि वाक्य से उत्पन्न होने वाले जो प्रमाण जनित जो प्रत्यय प्रमाण वाक्य है ये इससे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसके द्वारा भेद प्रत्यय जिसका चला गया उपमर्दी का का पूर्व में अन्वय है उसका जिसका नाश हो गया स सर्वकर्म को निवृत्त हो निवृत्त निवृत्त और सारे कर्म से निवृत्त वही कहा जाता है भेद बुद्धि जिसकी नाश हो गई क्यों भेद बुद्धि रहते थे तो कर्म करना है सारे भेद बुद्धि समाप्त हो गई वही सारे कर्मों से निवृत्त है क्यों निमित्त निवृत्त है निमित्त निमित्त चला गया उसका निमित्त क्या है कर्म के लिए वेद बुद्धि वेद बुद्धि अर्थ से निवृत्त कर्म हो गया वो सच निवृत्त कर्म निवृत्त कर्म यश्य हाँ, निवृत्त हो गए कर्म समाप्त हो गए कर्म जिसका उसको निवृत्त कर्म कहा जाता है बहुरी समास है वो निवृत्त कर्म ब्रह्म संस्था उच्चते है वो ब्रह्म संस्था कहा जाता है उसको ब्रह्म में संरक्षित कहा जाता है हाँ, वेद बुद्धि जिसके नष्ट हो गई वही होता है सच परिप्राण एवं वो सन्यासी नहीं हो सकता है अन्य से असंभवाद अन्य आश्रम में कर्म है इसलिए वो परिप्राण सन्यासी ही हो सकता है निवृत्त कर्मा बाकी नहीं हो सकता सन्यासी भी दो प्रकार के हैं एक तो कौन सन्यासी है आश्रम धर्म का परिपालन करके बैठा हुआ इसी में बैठा हुआ है देहात्म बुद्धि है वो निवृत्त कर्मा नहीं हुआ उसके लिए ज्ञान है यम यम नियम आदि कर्म है उसके लिए शौचादि कर्म है उसके लिए शांतोदांत उप्रति तिक्षु इत्यादि कर्म है उसके लिए उसके लिए कर्म है ये संन्यास धर्म मात्र में बैठने वाला नहीं हुआ यहां से ऊपर शरीर भाव से ऊपर उठा हुआ होगा भेद बुद्धि जिसकी समाप्त होगी उस स्थिति में सन्यासी है वो परिप्राण एवं अन्य से असंभव अन्य के लिए संभव नहीं है निवृत्त करना वही हो सकता है वही है ब्रह्म संस्था वही बन सकता है दूसरा नहीं हो सकता ये वास्तव ने बताया ठीक है तो विद्वत संन्यास तो हो जाएगा ब्रह्मशास्त्र हो जाएगा वो तो ब्रह्मशास्त्र है ही है वो नाश हो यशनात्र हाँ। नाश हो गया तो वेद बुद्धि नाश हो गया कर्म नहीं करेगा वो तो कई बार कहा गया है परिप्राजक गौण है इसके लिए कौन है जो आक्रम वर्ग का परिपालन करके बैठने वाले का परिभ्राज वो गौण है मुख्य रूप से तो वही ब्रह्म संस्था है परिव्राट शब्द का तो वही मुख्य रूप से ये गौण है मुख्य नहीं है ठीक है कर्म निमित्त प्रत्यय शुद्ध ब्रह्मात्मता साक्षात्कार से मिथ विरोधा न समुचय सिद्धि यही भाष्यकार बोलते पूर्व भाष्य का खंडन कृतिकार मत जाता था दोनों समुचय करके उसी समुचय करते करते जिसको ज्ञान हो जाए बस वो ब्रह्म संस्था है उसी में कोई भी आश्रम का कहा था अब कहते हैं नहीं कर्म का निमित्त वेद बुद्धि पूर्वक और आत्मज्ञान अवेद बुद्धि से दोनों में विरोध है कहां से कर्म और ज्ञान का समुचय होगा यही बोलना चाहते हैं कर्मनिमित्त प्रत्यय से कर्म निमित्त का जो कर्म निमित्त जो बुद्धि है वेद बुद्धि है और शुद्धात्म ब्रह्मता साक्षात्कार शुद्ध आत्मा अहम ब्रह्माष्टमी में पहुंचा हुआ है उसको ब्रह्मात्मा साक्षात्कार रूपी बुद्धि ये दोनों का विधो है ये दोनों में वेद बुद्धि और अभेद बुद्धि में विरोध है विरोध होने से न समुचय सिद्धि ज्ञान कर्म का समुचय होना संभव नहीं भरती प्रपंच आदि मत का खंडन ये कहा वस्तु संग्रह वाक्य विवृति ये कर्मन्वित विद्या प्रत्येक विरोधात यह संग्रह वाक्य था उसी का आगे व्याख्या करना है भाष्य में यह संग्रह वाक्य था एक वस्तु संग्रह वाक्य विवरण का वस्तु दो प्रकार की वस्तु हैं वेद बुद्धि और अभेद बुद्धि उसके संग्रह वाक्य था उसकी व्याख्या करते हैं कर्त्रादि का भेद बुद्धि कैसे होती है कर्ाधिकारक कारक क्रिया फल भेद प्रत्ययत्व ही निमित्तम उपाय ऐसा निमित्त लेकर के कर्ता करण संप्रदान अधिकार आदि और कर्म और कर्म का फल ये सारे भेद भिन्न भिन्न होगा मैं करता हूं इस साधन से करूंगा ये कर्म हो रहा है इस देवता के लिए करूंगा इस जगह पर कर रहा हूं ये फल मिलेगा ये सारी भेद बुद्धि होगी उसकी भेद बुद्धि वाला भेद बुद्धि वाला ही निमित्त ये सारे भेद बुद्धि वाले निमित्त को लेकर ही उपाध्याय ये सब भेद बुद्धि को लेकर ही शास्त्र बोलता है जिसको भेद बुद्धि बैठी हुई है उसके लिए बोलता है इदम गुरु इदम महाकाश ये करो ये मत करो ऐसा बोलता है इति कर्म विधाय प्रवृत्ता कर्म का विधान का प्रवृत्त कर्म शारीरिक कर्म विधिया प्रवृत्त हुई ये कहा ठीक है कर्म विधेय निषेधाश विधि और निषेध दो है कर्म विधि विधि और निषेध दो प्रकार के तथापि हाँ, पूर्वादि बोलता है तथापि प्रत्येक तो अविशेषा चाहे भेद प्रत्यय हो चाहे अभेद बुद्धि चाहे भेद बुद्धि हो चाहे अभेद बुद्धित्व तो समान है ना दोनों में वेद बुद्धि में भी बुद्धित्व है अवैध बुद्धि में भी बुद्धित्व है ये पूर्वादि बोलता तथा प्रत्येक तो अविशेषात मान ज्ञानत्व तो अविशेष है भेद बुद्धि अवैध बुद्धि में प्रत्येक तो अविशेषात समान से कारक अकारक विधि निषेध अयोर न विरोध अस्थित कारक और अकारक विधि निषेध में विरोध नहीं है ये पूर्वाधि बोलता क्या है कारक और अकारक तो एक नंबर टिप्पणी में कहा इदम कुरु इति वाक्य जन विधि प्रत्यय कारक ये कारक है ये करो ऐसा जो वाक्य सुनेगा इदम कुरु ऐसा वाक्य आएगा ये वाक्य से उत्पन्न जो विधि ज्ञान होगा वह है कारक प्रवर्तक कारक और इदम आकार से यदि वाक्य जन निषेध हो प्रत्यय अकारक ये अकारक बुद्धि है ये मत करो ऐसा वाक्य जो बोलता है उसे क्या होगा उसे उत्पन्न निषेध होता है निषेध ज्ञान होगा ये कारक तयो प्रत्येक तो अविशेषा वो दोनों एक समान एक ज्ञान ही तो है दोनों प्रत्येक तो अविशेषात प्रत्यय समान होने से न एकत्व तो प्रत्यय विरोधा एकत्व तो प्रत्यय से उनका विरोध नहीं होता है प्रत्यय तो समान है और तनमूल भूत भूत यथोक्त भेद प्रत्यय प्रत्ययत्व एवं अविरोधा कहा इसलिए जब यहां पर अविरोध है दोनों में इदम कुरु इदम माँ कुरु विरोध नहीं तो उसका मूलभूत कौन है भेद प्रत्यय जो भेद के कारण से ऐसा हुआ था भेद ज्ञान से हुआ है ये जो प्रत्यय होगा वो भी प्रत्ययत्व ही उसमें भी ये इसमें जब ये बुद्धि है तो वो भी बुद्धि है कर्ताधिकार भेद बुद्धि भी प्रत्यत्व अदेव अविरोध है इतना विरोध नहीं है ऐसे पूर्वादि के कहा तब उत्तर देते तच्च कहा भाष्य में कहा तच्च निमित्तम जो भेद प्रत्यय बुद्धि है कर्म का निमित्त भेद बुद्धि है वो भेद बुद्धि निमित्तम न शास्त्र कृतम वो भेद बुद्धि शास्त्र का कृत नहीं है मानी कुछ शास्त्र अपठित व्यक्ति भी भेद बुद्धि को लेकर बैठा हुआ है सभी के पास है भेद बुद्धि शास्त्र की जन्य बुद्धि तो अभेद बुद्धि होगी सर्व प्राणी से दर्शन कहा भेद बुद्धि तो सभी प्राणी में पशु भी पहचानता है ये मेरा बच्चा है ये दूसरे का है भेद बुद्धि वहां भी है पक्षियां भी दूसरे के बच्चे आने पर मारती है चौंक से भेद बुद्धि है वहां सर्व सभी प्राणी में भेद बुद्धि जो कर्म का निमित्त भेद बुद्धि होता है भेद बुद्धि सभी में प्राणी मात्र में है शास्त्र कृत नहीं होगा शास्त्र की बुद्धि तो भेद बुद्धि है यदि शास्त्र पढ़ा है वास्तव में उसने शास्त्र का मनन आदि किया है तो अभेद बुद्धि में जाए तभी तात्पर्य होगा उसका एक कहना चाहते हैं क्यों तो भाष्य में कह रहे थे सद एकम एवं अद्वितीयम वेदम सर्वम ब्रह्म वेदम सर्वम इति शास्त्रजन्य प्रत्यय विद्यारूप हाँ ये जो सद एक, एकम एवं अद्वितीय आदि है वह और आत्मा ही सब कुछ है ब्रह्म ही सब कुछ है ये सब कुछ ब्रह्म ही है सब कुछ आत्मा ही ऐसा जो शास्त्र है ऐसे शास्त्र से जन्य जो ज्ञान होगा वो विद्यारूप ज्ञान है उसको ज्ञान कहते हैं शास्त्र जन्य ज्ञान वो ज्ञान स्वाभाविक भेद बुद्धि को नाश किए बिना ये ज्ञान हो नहीं सकता हाँ, ब्रह्म वेदम सर्वम आदि ज्ञान नहीं हो सकते स्वाभाविकम क्रियाकार फल भेद प्रत्येक माने बिना शास्त्र के बिना सिखाए होने वाला जो बुद्धि है उसको स्वाभाविक बुद्धि कहते हैं स्वाभाविकम क्रियाकारक फल भेद प्रत्यम से क्रियाकारक फल भेद बुद्धि है एक कर्म है एक ये कारक है मेरे और ये फल मिलेगा इत्यादि भेद बुद्धि कर्म विधि निमित्तम ये कर्म विधि के निमित्त है भेद बुद्धि इसको अनुपम विद्या इसको नाश किए बिना न जाए थे विद्या रूप प्रत्यय न जाए थे पूर्व है हाँ। एकत्व रूपी बुद्धि हो नहीं सकती है ये बता दिया ठीक है भी शास्त्रीय अशास्त्रीय विद्या विद्या भावे ना विरोधो अस्तित्व तो सिद्धांत बोलते हैं देखो भाई पूर्वाद ने कहा था दोनों में विरोध है प्रत्यय तो दोनों ही है ये भी बुद्धि है वो भी बुद्धि है भेद बुद्धि भी बुद्धि अभेद बुद्धि भी बुद्धि तो सिद्धांत कहते हैं प्रत्यत्व भी ठीक है प्रत्यत्व धर्म दोनों में है होने पर भी शास्त्रीय अशास्त्रीय है एक शास्त्रीय प्रत्यय एक अशास्त्रीय प्रत्यय है एक बुद्धि शास्त्रीय है एक अशास्त्रीय है इसलिए विद्या अविद्या भाव एक ज्ञान स्वरूप है एक अज्ञान स्वरूप है जो अशास्त्रीय बुद्धि है अज्ञान स्वरूप है अशास्त्रीय बुद्धि ज्ञान स्वरूप है मन से विरोधो अस्थि ज्ञान अज्ञान में तो विरोध रहेगा ही एक दो नंबर की टिप्पणी कहते हैं प्रत्यय तो। यथोक्त भेद प्रत्यय एकत्व प्रत्यय भाव जो यथोक्त भेद भेद प्रत्यय और अभेद प्रत्यय दोनों में प्रत्यत्व तो समान होने पर भी शास्त्रीय अशास्त्रीय वर्ष से अभेद प्रत्यय शास्त्रीय है और वेद प्रत्यय अशास्त्रीय स्वाभाविक है जिसमें विरोध है टिप्पणी में और कहा तथा च विरुद्ध भेद प्रत्ययकारी और विधि निषेध रपि विरोध इसलिए विरुद्ध भेद प्रत्ययकारी विरुद्ध माने ये जो विधि और निषेध है विरोधी है वो भी उसमें भी ऐसे ही है विरोध ही है दोनों में एक आगे पूर्व पक्ष बोलता है सती विरोध किम से ठीक है मान भेद बुद्धि अभेद बुद्धि और विरोध आने पर क्या निकलेगा होने दो दोनों तब सिद्धांत कहते हैं तच्च तच्च हाँ। तच्च शास्त्रजन्य प्रत्यय विद्यारूप स्वाभाविकम इत्यादि भाष्य कार्य स्वाभाविक विद्यारूप प्रत्यय हो नहीं सकता तब तक स्वाभाविक क्रियाकारक फलभेद बुद्धि को नाश किए बिना ये कहा था ठीक है स्वाभाविक हो गया विद्यारूप प्रत्यय तो पूर्व संबंध हाँ। यहाँ पर जो अनुवृत्य न जाए में विद्यारूप प्रत्यय पूर्व में है उसको अन्वय करके विद्यारूप प्रत्यो न जाए थे ऐसा हमने कर देना ऐसा बोल दिया तत्र उत्तम एवं हेतु थी उसमें कहा जो हेतु था भेदा भेद विरोधा उसी के व्याख्या करते हैं भेदा कहा भेद अभेद प्रत्यो विरोधा पूर्व में विद्या कर्म निमित्त विद्या प्रत्यो विरोधात तो कहा था उसी को यहां कह रहे हैं भेदा भेद प्रत्यो विरोध भेद बुद्धि अभेद बुद्धि में विरोध है शास्त्र की बुद्धि अभेद बुद्धि और स्वाभाविक बुद्धि भेद बुद्धि उस भेद बुद्धि के लोग तो कर्म होता है इसलिए कर्म और ज्ञान एक साथ हो नहीं सकता ठीक है तत्र लोक प्रसिद्ध उदाहरण वहां एक उदाहरण है लोक में प्रसिद्ध है जिसको तिविर रोग लग गया उसको दो चंद्रमा दिख रहा है भेद बुद्धि हो रही वहां दो है भेद बुद्धि वो भेद बुद्धि तिविर जाने पर भी तिविर रोग घटने पर भी जब तक भेद बुद्धि नहीं हटेगी तब तक उसको एकत्व चंद्रमा एकत्व ज्ञान नहीं होगा चंद्रमा में एकत्व ज्ञान के लिए भेद बुद्धि नाश होना पड़ेगा एक दृष्टान दिया भाष्य में नहीं तैमिरिक द्विचंद्रादि भेद प्रत्यम अनुकृत्य जो तिमिर रोग के कारण से होने वाला जो द्विचंद्रादि भेद है उस भेद प्रत्यय को नाश किए बिना तिमिर अपगमे तिमिर रोग हट चुका है होने पर भी चंद्रादि एकत्व प्रत्यय न उपजाए थे चंद्रादि एकत्व बुद्धि उक्त नहीं होता जब तक भेद बुद्धि नाश नहीं होगी भले ही रोग चला जाए क्योंकि भेद बुद्धि जब बनी भेद दिखता ही रहेगा उसको हाँ, जब भेद बुद्धि जाएगी तब एक चंद्रमा दिखने लग जाएगा भेद बुद्धि और अभेद बुद्धि एक साथ में होने सकता हो सकती इसके लिए भी ये दृष्टांत है कहा क्यों विद्या विद्या प्रत्यय प्रत्योर विरोधा ज्ञान और अज्ञान रूपी बुद्धि में विरोध है दोनों तो में ठीक है <clears throat> भेदाभेद प्रत्योर विद्या विद्यात्मनोर भेद प्रत्यय और अभेद प्रत्यय मान भेद ज्ञान और अभेद ज्ञान ये दोनों विद्या अविद्यात्मनो एक विद्या रूप है और एक अविद्या मैंने अज्ञान रूप है भेद प्रत्यय भेद जो होता है अविद्या रूप है और अभेद होता है विद्या रूप है ये दोनों में विरोध है ना समुच्चय असंभव समुच्चय हो नहीं सकता दोनों में दोनों का इसलिए तद अनुष्ठाई ब्रह्म संस्थो न भगवती तो दोनों का समुच्चय करने वाला ब्रह्म संस्था नहीं हो पाता दोनों कर रहा है पूर्वादि यही बोल रहा है भेदा भेद प्रत्योर विरोधात विद्यात्मन और विरोध है ना समुचे असंभव ही हाँ, ब्रह्म नवती चेत यदि नहीं हो सकता वो दोनों का करने वाला एक साथ करने वाला ब्रह्मशास्त्र नहीं हो सकता कस्तर ही ब्रह्मशास्त्र सार फिर कौन होगा वो ब्रह्मशास्त्र ये समझा है सार अत्र इसमें उत्तर देते हैं तत्र एवं सती तब ब्रह्मशास्त्र कौन हो सकता है ये देखो ब्रह्मशास्त्र वही हो सकता है यम भेद प्रत्यम उपाध्याय कर्म प्रत्यय प्रत्यय कहा जिस वेद बुद्धि को लेकर के कर्म का विधान प्रवृत्त हुए थे स ऐसे उपमृत जो वेद बुद्धि जिसकी नष्ट हो गई किससे नष्ट हो गई सद एकम एवं आदित्यम तत्सत्यम ये ज्ञान है आत्मा के लिए ऐसा ज्ञान है एकम एवं आदित्यम ऐसा ज्ञान है और तत्सत्यम वही सत्य है ऐसा ज्ञान एक तरफ है दूसरा विकार भेदो अनृतम ऐसा ज्ञान भी है विकार वर्ग झूठे होते हैं में विकारो कृतिका नामधेय मृतिका सत्य इत्यादि वाक्य भी है इन वाक्यों के द्वारा एक तरफ आत्मा को सत्य बताने के लिए सद एकम एवं अद्वितीयम तत्सत्य में वाक्य है दूसरा कार्य वर्ग को भेद बुद्धि को नाश करने के लिए विकार भेदो अनृतम ये वाक्य भी है इन वाक्यों के ये तब वाक्य प्रमाण जनित है वाक्य प्रमाण वाक्य है ये इस वाक्य से उत्पन्न जो एकत्व प्रत्यय एकत्व प्रत्यय होगा उस प्रत्यय के द्वारा क्या होगा कि सब सर्व सर्वकर्मभ्यो निवृत्त हो हाँ, कर्म विदय सब जिसका उपमृतित हो जाता है वो व्यक्ति क्या होता है सारे कर्म से निवृत्त कहा जाता है उस काल में क्यों निमित्त निवृत्त भेद बुद्धि समाप्त हो गई निमित्त कर्म के लिए भेद बुद्धि वो नष्ट हो गई उसके लिए का न तो निवृत्त कर्म ब्रह्म सच निवृत्त कर्मा वही जो निवृत्त कर्म वाला है व्यक्ति सारा कर्म समाप्त हो गया जिसका वही ब्रह्म कहा जाता है उसी सच परिभ्राड एवं क्योंकि कर्म का अभाव सन्यासी नहीं हो सकता है यदि करे तो दूसरे में नहीं होगा कर्म लगा हुआ है सच परिप्राण एवं वो सन्यासी ही होगा अन्य से असंभव अन्य आश्रमियों के लिए कर्म है कर्म छोड़ नहीं पा रहा हो स्थिति ठीक है उनका उत्तरीत्या समुचा योग्य सती तत्र एवं सती का इस बताए गए तरीके से विद्या अविद्या में विरोध होने से समुच्चय अयोग्य सती तत्र योग सती का समुच्चय नहीं होने न हो सका इसलिए ऐसा होने पर कहा आगे कहते भाष्य के मैंने पैरा के अंत में कहा था अन्य से असंभव अन्य आश्रम के लिए असंभव है ब्रह्मशस्त होना ब्रह्मशस्त होना असंभव है क्यों कर्म लगा हुआ कहा उसी प्रकार की व्याख्या करते हैं कहा ठीक है कहा अन्य से गृहस्थादे अन्य कौन है अन्य से असंभवात में जो अन्य से पद था उसका अर्थ है गृहस्थादि गृहस्थादि आश्रम जो बैठे हैं अन्य से और ब्रह्म संस्थाम असंभवम उत्तम साधे अन्य से असंभवात कहा था उसी को सिद्ध करते हैं आप अन्य से मैंने गृहस्थादेर ब्रह्म संस्थाम ब्रह्म संस्थ होना असंभवम उत्तम भाष्यकार ने अन्य से असंभवात भाष्य के अंतिम में लिख दिया पैरा के अंतिम में उसी को सिद्ध करते हैं आगे अन्यो ही कहते अन्य उस परिप्राण से जो अन्य है सर्वकर्मा निवृत्त जो परिवार आता है उससे जो अन्य आश्रम में बैठे हैं आश्रम धर्म के पालन करने वाले जितने भी अन्य ही अनिवृत्त भेद प्रत्यय जिसका भेद बुद्धि नाश नहीं हुई है हाँ मैं कर्म करने वाला हूं क्योंकि हर आश्रम में कर्म है मेरा एक कर्म है हाँ, एक मैं करता हूं ये कर्म साधन होगा ये संप्रदान होगा या अपादान होगा जो जो उसके लिए उपयोगी कारक होंगे भेद बुद्धि है उसके पास अन्यो ही अनिवृत्त भेद प्रत्यय अनिवृत्त भेद प्रत्यय यश्य जिसका भेद बुद्धि नाश नहीं हुई है अन्य आश्रमी है जो सो अन्य पश्य तो अन्य को देखता है कर्म करने के लिए उद्देश्य कोई देवता आदि देखेगा अपने से भिन्न कर्म आदि देखेगा अन्य पश्चन अन्य को देखता हुआ अन्यत श्रवण अन्य को सुनता हुआ अन्यत मन मानो अन्य का मनन करता हुआ अन्य बीजानम अन्य को जानता हुआ इदम कृत्वा इदम प्राप्त ये कर्म करके फल पाऊंगा फल मिलेगा मुझे को ऐसा मान करके इति ही मन्य थे ऐसा ऐसा मानता है अन्य परिप्राण उसके छोड़ करके अन्य जितने आश्रम वाले हैं ये करके फल प्राप्त करूंगा ऐसा मानता है भेद बुद्धि है वहां तस् एवं कुर्वतो न प्रमसा जब ऐसी बुद्धि कर रहा है अन्य देख रहा है अन्य सुन रहा है अन्य जान रहा है अन्य मनन कर रहा है और ये करके फल पाऊंगा ऐसा भेद बुद्धि लेके बैठा है ऐसा करने वाला व्यक्ति का ब्रह्म संस्थत्व तो आना संभव नहीं ब्रह्म संस्था नहीं बोल सकते उसको क्यों बाचार और मनमात्र विकार अमृत अभिशांति प्रत्ययत्वाद जो वाणी का प्रयोग शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता ये कार्य वर्ग जितने भी होते हैं शब्द प्रयोग तो हम करते हैं किंतु वस्तु नहीं होता जिसको हम शरीर शरीर कह रहे हैं अगर इसके वास्तविक दृष्टि से देखेंगे शरीर होता नहीं है इसमें क्या मिलेंगे पंचभूत मिलेंगे और पंचभूतों में भी लय करते जाओ पृथ्वी को जल में जल को तेज में तेज को वायु में वायु को आकाश में आकाश में अव्यक्ता में अव्यक्तों को उसी सब में लीन करो सत ही बचेगा कहीं से भी चलो सब बचना है स्थिति आएगी तो ये ब्रह्म स्वस्थ दान संभव नहीं क्यों वाचारण मात्र विकार जो वाचारण वाणी का आलंबन है शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता है जैसे घट जिसको बोलते हैं घट शब्द का प्रयोग हो रहा है किंतु वो तो एक आपके अंधविश्वास दृष्टि है वैचारिक दृष्टि से जाएंगे तो घट नहीं मिलेगा क्या मिलेगा मिट्टी मिलेगी घट बोल रहे थे शब्द प्रयोग हुआ वस्तु नहीं मिला वैचारिक दृष्टि से जाने पर स्थिति हो जाती है वाचारण विकारो नाम जितने भी नाम है नाम नामी नाम है वो वस्तु नहीं होता कारण सत्य होता है सबका कारण आत्मा ही है ये कहना है वाचारण मात्र विकार जो अंधित है वाचारण कार्य वर्ग जितने भी वाणी का शब्द प्रयोग मात्र होने वाले जो अंधित है झूठे हैं उसमें अभिसंधि है जैसे शरीर वाचारण विकार मात्र है उसमें अभिनिवेश है हाँ मैं एक मनुष्य हूं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं आदि आदि अभिनिवेश ऐसे झूठा अभिनिवेश माने ऐसे प्रत्यय वाला है वो व्यक्ति इसलिए ब्रह्मशास्त्र होना संभव नहीं ब्रह्मशास्त्र का संभव नहीं है कहा न असत्यम यदि उपमर्जित है भेद प्रत्यय असत्य समझ करके भेद प्रत्यय जब नष्ट हो जाने पर ये झूठा है ऐसा समझ करके असत्यम यदि उपमर्जित भेद प्रत्यय सत्यम यदि इदम अनेन कर्तव्य में प्रमाण प्रमे बुद्धि न उपपद्य ऐसा बोलते हैं असत्य समझ गया एक बार इसको ये झूठे हैं वास्तव में समझ गया हो असत्यम यदि उपवृत्ति भेद प्रत्यय भेद बुद्धि नष्ट हो गया असत्य समझ करके ऐसा होने पर फिर सत्यम यह सत्य है बुद्धि कभी नहीं होगी असत्य समझ करके जो भेद बुद्धि नाश हो गई तब सत्यम इदम यह सत्य है जिसको असत्य समझा था बाद में सत्य नहीं समझेगा सत्यम इदम अनेरम मया कर्तव्यम मेरे द्वारा ये कर्तव्य है ऐसा प्रमाण प्रमेय बुद्धि न उपपद्य थे ऐसे प्रमाण जनित बुद्धि नहीं हो सकती प्रमाण बुद्धि भी नहीं होगी हाँ, ज्ञान भी नहीं होगा ऐसा जब असत्य समझ चुका है फिर बाद में सत्य नहीं समझ सकता सत्य मानकर ही सारा कर्म होते हैं शरीर आदि को सत्य समझ कर ही होता है असत्य समझा हो तो आदि कर्म होना संभव नहीं है कैसे तो कहा आकाश इव आकाशे इव तलमल बुद्धि विवेकिन जैसे आकाश में दो बुद्धि होती है तल और मल तल माने कटाहाकार कढ़ाई के आकार में दिख रहा है उल्टी कढ़ाई ऐसा दिखता है जहां से भी देखें बीच में ऊंचा दिखेगा चारों तरफ नीचे ऐसा दिखता है उल्टी कढ़ाई के आकार ऐसे तल कहते हैं और मल माने नीला नीला दिख रहा हो काला काला ये मल है ये बुद्धि विवेकी को उत्पन्न नहीं होती क्यों आकाश में वो निरवय पदार्थ है आकाश उसमें कहा कटाई का आकार होना विवेकी ऐसा जो समझता है आकाश सावय में निर्वय होता है सूक्ष्म होता है उसमें तल होना भी संभव नहीं उसमें मल होना भी संभव नहीं दोनों संभव नहीं अज्ञानी को होता है इसी प्रकार जब तक शरीर में आत्मबुद्धि है तभी तक कर्म हो सकता है शरीर से आत्मबुद्धि हटने पर कर्म नहीं हो सकता ये कहना चाहते हैं <clears throat> आकाशे इव तलबुद्ध तलमल बुद्धि विवेकी न जैसे विवेकी व्यक्ति होगा ज्ञानी होगा आकाश के विषय में जानने वाला विवेकी यहाँ विवेकी कहता तो आत्मज्ञानी नहीं आकाश के बारे में समझने वाला जो विवेकी होगा उसकी बुद्धि में आकाश में तल भी नहीं होता मल भी नहीं होता आरोपित है अज्ञानी ने आरोप किया है उपवर्धित भी भेद प्रत्यय कर्मव्यो न निवर्तते चेत हाँ, भेद प्रत्यय नाश होने पर भी यदि कर्म करता है भेद बुद्धि नष्ट हो चुकी है फिर भी यदि कर्म होता हो कर्म की निवृत्ति नहीं होती हो तो क्या होगा कहते हैं उपमते भी भेद प्रत्यय कर्म जो न निवर्त थे चेत माने ज्ञान होने भेद बुद्धि नष्ट होने पर भी फिर भी कर्म की निवृत्ति यदि नहीं होती हो तो प्राग इव भेद प्रत्यय उपमर्दनात् एकत्व प्रत्यय विधायक वाक्यम अप्रामणिकतम फिर तो क्या होगा जो एकत्व का विधायक जो वाक्य है सद एक अंग वाद्यम आदि वाक्य यह अप्रामाणिक हो जाएगा पहले जैसे बुद्धि बनी रही कर्म के जो कारण थे भेद बुद्धि उसका नाश होने पर भी कर्म यदि होता रहा तो इसका मतलब एकत्व तो ज्ञान उसको हुआ ही नहीं ये कहते हैं उपवर्तित भी भेद प्रत्यय कर्मभ्यो न निवर्तित चेत माने भेद बुद्धि नष्ट होने पर भी कर्म से यदि निवृत्त नहीं होता है बुद्धि तो उस स्थिति में प्राग जैसे पहले क्या करता था भेद बुद्धि पूर्वक कर्म करता था भेद प्रत्यय उपमर्दना प्राग भेद ज्ञान के नष्ट होने की पहली अवस्था में जैसे एकत्व प्रत्येक प्रत्यय विधायक शास्त्र अप्रामाणिकृत था उसको मानता नहीं था एकत्व वाला ज्ञान को ऐसे अभी भी नहीं मान रहा हो अप्रामाणिक हो जाएगा किंतु उसको अप्रामाणिक करना ठीक नहीं ये कहा अभक्ष भक्षण आदि प्रतिषेध वाक्या नाम प्रामाण्यवत युक्तम एकत्व वाक्य से अभी प्रामाण्य उस वाक्य को अप्रामाण्य बनाना ठीक नहीं होगा हम्म। एकत्व तो विधायक वाक्य को अप्रामाण्य करना ठीक नहीं होगा क्यों जैसे अभक्ष भक्षण आदि अभक्ष का खाने के लिए प्रतिषेध वाक्य आता है न कलंजम भक्षेद आदि वाक्य आएगा वो वाक्य जैसे में प्रामाण्य मानते हैं उस बात प्रमाण मान के चलते हैं लोग जैसे वो वाक्य में प्रमाण है उसी प्रकार प्रामाण्यवत युक्तम उक्तम एकत्व वाक्य से प्रामाणिक एकत्व वाक्य सदैव एवं आदि वाक्य भी प्रामाणिक है उसको अप्रामाण्य करना ठीक नहीं इसलिए ज्ञान होने पर कर्म नहीं कर सकता ये कहा क्यों सर्वोपनिषदाम तत्परत्वार्थ सारे उपनिषदों में एकत्व पर एक सिद्ध होता है सारे उपनिषदों का तात्पर्य एकत्व एक तात्पर्य है कर्म में तात्पर्य नहीं होता है एकत्व में तात्पर्य है सर्वोपनिषदाम तत्परत्वार्थ टीका में कहते हैं वाचारम्भण मात्रे विकारे अंग्रिते जो शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं मिलता उसको वाचारमण बोलते हैं जैसे पट पट करके बोला जाता है इसको पट बोलते हैं शब्द प्रयोग होता है लेकिन विचार दृष्टि से जाएंगे तो पट नाम का कोई वस्तु मिलेगा नहीं एक अंधविश्वास वृत्ति दृष्टि है पट बोलना जो विवेकी होगा वास्तव में क्या चीज है इसमें धागा धागा को विचार करेंगे तो और कुछ मिलेगा वहां कर्पास मिलेगा अंशु क्यों तंतु का भी अंशु होगा ऐसे ऐसे बुद्धि जाएगी पर जब पट बोलते समय में धागा सत्य हो जाएगा जब पट पट कह रहे हैं उस काल में धागा और धागा में भी देखेंगे तो उसका काम सत्य आ जाएगा शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं मिलता वैचारिक दृष्टि ऐसी है एक व्यावहारिक दृष्टि है घटपट करके हम एक व्यवहार कर रहे हैं वो अलग है या ज्ञानकालीन बात है ये हाँ, विवेक काल में तो ये पट नहीं मिलेगा घट नहीं मिलता विवेक काल में तो एक व्यावहारिक अवस्था है माने हाँ? व्यवहार हो रहा अज्ञान काल में कब हो रहा है माने वो वस्तु को हमने समझा ही नहीं है हम रूपांतर में जा रहे हैं यह अज्ञान है वास्तव में मिट्टी होती है हम घट करने लग गए ऐसी स्थिति होती है ये शरीर भी ऐसे शरीर बोलना ही बोलना मिलेगा नहीं या पंचभूत मिल जाएंगे इसके ऊपर देखेंगे तो पंचभूत मिलेंगे क्योंकि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का पुंज है ये तो ही मिले कुछ नहीं मिलेगा यदि पंचभूत निकाल देंगे इसमें से तो क्या रहेगा इसका जिसको शरीर कह रहे हैं पंचभूत को निकाल दो पृथ्वी अंश जल अंश तेज अंश वायु अंश आकाश अंश निकाल अलग करो तो क्या बचेगा इसमें कुछ नहीं बचेगा जिसको घट कह रहे हैं मिट्टी अंश निकाल दो उसमें से क्या बचेगा कुछ नहीं बचता वाचार मन विकारो नाम अरे मृतिका तो सत्यम ऐसा अच्छा, वाक्य है ये कह रहे हैं वाचारमण मात्र जो वाणी का आलम्बन मात्र है वस्तु नहीं होता ऐसे में शरीर आदि में कहा ये शरीर आदि शरीर कह रहे हैं प्रयोग व्यवहार चल रहा है किंतु शरीर नहीं मिलेगा विचार दृष्टि में कहा विकारे अंग्रिते शरीर हो वाचारमण मात्र जो शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं मिलता उसी को कहते हैं वाचारमण बात का आलम्बन है वस्तु नहीं होता वाचारमण मादे विकारे अंग्रते जो झूठा है विकार कार्य है ये शरीर आदो शरीर आदि में वाचारण मात्र शरीर आदि में शरीर माने शरीर होता नहीं पंचभूत निकाल के देखो विचार से पंचभूत को निकालो इसमें से कुछ नहीं बचेगा शरीर आपका ऐसा है शरीर आदो शरीर आदि में गृह आदि जितने भी है घर बोलते हैं इसमें ईटा पत्थर आदि को निकाल दो तो घर क्या बचेगा कुछ नहीं बचता घर घर बोल रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा कहीं भी ऐसा है तो वाचारण मात्र विकार अंग्रित शरीर आदो जो वाणी का आलम्बन मात्र है वस्तु नहीं होता ऐसे जो विकार वर्ग है झूठा शरीर आदि में ब्राह्मण हम कर्म करने के लिए ऐसा बुद्धि होगी तब कर्म करेगा मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं वैश्य हूं तो जाति घटित कर्म लगा हुआ है हाँ, जाति से अतिरिक्त हो जाने पर कर्म नहीं होता आत्मभाव में पहुंचेगा तो जाति नहीं रहेगी कर्म भी नहीं हो सकता वहां यही कहना चाहते हैं शरीर आदि जो झूठे हैं उसमें अंदरित में ब्राह्मण हम इत्यादि अभिसंधान रूपा हुआ अभिनिवेश है उसका आकर दुराग्रह बैठा हुआ है मैं ब्राह्मण हूं अरे बाबा जो वस्तु ही नहीं मिलना हुआ कहा ब्राह्मण तो रहेगा जिसको लेकर के मैं ब्राह्मणों का रहा है पंचभूत निकाल देगा तुम्हारे ब्राह्मण तो कहा जाएगा कुछ नहीं मिलेगा ब्राह्मणो हम इत्यादि जो दुराग्रह है अभिनिवेश है ब्राह्मणो हम इत्यादि अभिसंधान रूपो मिथ्या अभिनिवेश झूठा अभिनिवेश है उसका हाँ, दुराग्रह मात्र है अभिनिवेश आत्मा को यह प्रत्यय ऐसे बुद्धि होने पर आगे कर्म करेगा वो यह प्रत्यय तदवत्वाद हेतु तो का अर्थ ये <clears throat> ये कहा तो माने अन्य से असंभवात जो हेतु दिया था उसका अर्थ यह है अन्य में तो इत्यादि बुद्धि है इसलिए ब्रह्मशास्त्र होना संभव नहीं है ये कहा आगे ठीक है संघ है ननु ब्रह्म विदोपी संस्कार वसात द्वैत सत्यत्व अभिनिवेश पूर्वक कर्म प्रवृत्ति संभवात न ब्रह्म संस्था सुप्रतिपाद्याय कहते महाराज जो ब्रह्मवेत्ता वास्तव में ब्रह्म भाव में पहुंचा है फिर भी पहले तो वो शरीर भाव में था ना ब्रह्म भाव में जाने से पहले शरीर भाव में वो संस्कार होगा उसके पास तो ब्रह्म विरोधी अभी ब्रह्मवेत्ता हो गया है हाँ, अभी आत्मभाव में पहुंचा हुआ है किंतु पूर्व अवस्था है का संस्कार होगा संस्कार बसा पहले उस भाव में पहुंचने के पहले तो मैं मनुष्य हूं ब्राह्मण हूं इत्यादि ठीक उसी अनुभव उसका संस्कार है संस्कार बसा संस्कार बल से द्वैत सत्य तो अभिनेश पूर्व होगा द्वैत में सत्य तो उस पहले जैसे दिखता था उसको द्वैत सत्य मानता था तो आज भी द्वैत सत्य होगा संस्कार के बल से अभी ब्रह्म भाव में भले गया है संस्कार तो है ना द्वैत का उसका पूर्व में द्वैत मानता था तो अभी भी द्वैत मानता होगा द्वैत सत्यत्व अभिनय पूर्वकम कर्म जब द्वैत में सत्यत्व बुद्धि हो गई तो कर्म होगा फिर उसे कर्म में प्रवृत्ति भी होगी ब्रह्मवेत्ता को भी द्वैत निवेश पूर्वकम कर्म प्रवृत्ति संभव कर्म में प्रवृत्ति संभव है ब्रह्मवेत्ता को भी तो पूर्व संस्कार द्वैत का संस्कार है पहले द्वैत को सत्य समझता था तो अयुग के संस्कार के बल से उसको द्वैत को सत्य ही समझेगा समझने कर्म होगा कर्म प्रवृत्ति संभवात न ब्रह्म सत्तासु ब्रह्म संस्तत्व तो उसमें भी नहीं होगा निवृत्त कर्म कहाँ होगा वो भी कर्म होगा उसके संस्कार के बल पर कर्म होगा तो निवृत्त कर्म नहीं हुआ जो निवृत्त कर्म होगा वही ब्रह्म संस्था होता है बोला आपने ये शंका आ गई इसके उत्तर में कहा न चाह में कहा न चाह असत्यम इति उपमर्द एक बार उसने असत्य समझ लिया जिसको ये झूठे हैं समझ लिया है न चाह असत्यम इति उपमर्दित भेद प्रत्येक असत्य है करके नाश कर दिए भेद प्रत्यय भेद बुद्धि नष्ट कर दिए जाने पर सत्यम इदम अनैन कर्तव्य मया ये सत्य है इस साधन से मुझे करना चाहिए अनैन साधन है ना मया कर्तव्य इदम ये बुद्धि सत्य बुद्धि करके नहीं हो सके असत्य समझ करके जो भेद बुद्धि नाश हो गई उस भेद बुद्धि नाश होने पर सत्यम एक कर्म को फिर सत्य मान कर भेद बुद्धि निमित्त कर्म होता था उसको फिर कर्म को सत्य मान करके इदम कर्म अनेर साधन है ना मया कर्तव्य यह कर्म इस साधन के द्वारा मेरे द्वारा कर्तव्य है यह प्रमाण प्रमेय बुद्धि नहीं उत्पत्ति ऐसा प्रमाण बुद्धि और विषय बुद्धि दोनों उत्पन्न नहीं हो सकती वेद बुद्धि में अंधित हो जाने का एक बार नाश हो गया अंधित समझ लिया उसके बाद फिर कर्म होना संभव नहीं तो सत्य मान करके कर्म करना है उसे झूठा मान करके त्याग चुका है वो, वो ब्रह्म भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति में हो सकता जो कर्म करता है तो ब्रह्म भाव में पहुंचा नहीं वास्तविक ही है वास्तव में ब्रह्म भाव में पहुंचा नहीं हो कर्म करता हो अब बताएंगे वो वो भी बताएंगे बताएंगे उसको भी बताएंगे तो भाष्य को बोल दिया क्यों आकाश है तलमल बुद्धि विवेकी नाम जैसे आकाश में दो बुद्धि होती है अज्ञान काल में तल और मल दो बुद्धि होती थी कड़ाई के आकार में दिखता है ठीक है और नीला नीला दिख रहा है किंतु तो आकाश माने वो नहीं ये ये भी आकाश है खोखलापन है तो आकाश कहते हैं अवकाश दातृत्व आकाश आता है जो चलने फिरने के लिए बैठने उठने के लिए हमें अवकाश मिलता हो उसको कहते हैं आकाश खोखलापन आकाश माने खोखलापन वो सर्वत्र है ये वो ही नहीं अविवेक काल में तलमल बुद्धि हो गई थी बाद विवेक काल में तलमल बुद्धि अब दोबारा नहीं होगी वहां विवेक काल में ठीक इसी प्रकार ये दृष्टांत किया टीका में कहते हैं असत्यम इति विवेक न असत्यम इदम इति विवेक ये असत्य है इसका समझा है विवेक के द्वारा और विवेक काल में सत्य समझता था ज्ञान काल में असत्यम इस बुद्धि हो गई असत्यम इदम इति विवेक न सत्यत्व अभिनिवेश जब सत्यत्व हाँ, असत्य समझ गया तो सत्यत्व अभिनिवेश शिथिली शिथिलीकृत जो सत्यत्व बुद्धि थी उसको शिथिल कर दिया गया किसके द्वारा असत्यम ऐसा विवेक के द्वारा सत्यत्व बुद्धि को ढीला कर दिया शिथिल बना देने पर शिथिल पुनः सत्यत्व सत्यत्व अभिनिवेश है ना न प्रवृत्ति रूप दे जब असत्यम करके समझ चुका है सत्यत्व को ढीला कर दिया उस दिन फिर ये सत्य है करके ऐसी प्रवृत्ति नहीं हो कहा पुनः सत्यत्व अभिनिवेश है ना न प्रवृत्ति रूप सत्यत्व का अभिनिवेश करके सत्य है करके फिर प्रवृत्ति होने सकती है सिद्धांत ने कहा आभास रूपा तो भेद बुद्धि न न कर्मव्य आभास जरूर होता है द्वैत आभास जरूर होगा उसको जब तक विभिन्न मुक्ति काल में है वो ब्रह्मशस्त्र व्यक्ति द्वैताभास द्वैत में द्वैताभास होगा जल युग ऐसी जैसा दिखेगा माने मिथ्या बुद्धि से देखेगा काम का नहीं है सत्यत्व बुद्धि समाप्त है उसकी जलयु रसी में अब काम की नहीं रही रसी जब तक वायु का झोंक नहीं लगता हवा न लगे तब तक रसी दिखेगी वो आग से जल गई है अग्नि से जली हुई है रसी किंतु राख है वो किंतु रसी के आकार में दिख रहा है सत्य तो बुद्धि नष्ट होगी अब वो कभी उठाना नहीं चाहेगा ये बांधने का काम आएगा करके उसको पहले सत्य तो बुद्धि थी बांधने का काम आता था अब वो बुद्धि नहीं होती पर रहेगा ये कहते हैं आवास रूपा भेद बुद्धि जो आवास रूपी भेद बुद्धि है जो दिख रहा है आवास रूप में वस्तु में हो जैसा लगता हो उसका आवास बोलते हैं वह न कर्म प्रवृत्ति हेतु तो कर्म के प्रवृत्ति हेतु नहीं होती है कर्म के लिए प्रवृत्ति का कारण नहीं होता कौन आवास रूपी भेद बुद्धि कर्म के प्रवृत्ति का हेतु नहीं है सत्यत्व बुद्धि होती है वहां जब द्वैत में सत्य बुद्धि हो गई तो कर्म करेगा मिथ्या बुद्धि आ गई तो कर्म नहीं कर सकता आवास में बुद्धि है वहां जब तक जीवन मृत्यु तो काल नहीं कहा अद्वैत ज्ञान बतो निमित्त निमित्त निवृत्ति है अद्वैत ज्ञान वाले का निवृत्त चला गया कर्म का निवृत्त के निवृत्ति होने से कर्म का निवृत्त का तो वे बुद्धि उसके निवृत्ति होने से कर्म निवृत्ति अवश्य भावी नहीं जब निमित्त चला गया तो कर्म भी निवृत्त हो जाएगा अवश्य निमित्त ही चला कर्म कहां से होगा अद्वैत ज्ञान वाले का निमित्त चला गया निमित्त कर्म का भेद बुद्धि वो नष्ट हो जाने से कर्म नहीं हो सकता ये कहा कर्म निवृत्ति अवश्यम भावी नहीं तो उत्तम कर्म की निवृत्ति भी अवश्यम भावी है ये बता दिया कह दिया विपक्ष दोष माह अब दोष क्या है यदि निमित्त हट गया फिर भी कर्म कर रहा हो उस स्थिति में उसको क्या माना जाए फिर ये वाक्य अप्रामाणिक हो जाएगा सद एकम वित्तीय इत्यादि वाक्य तत्सत्यवादी वाक्य अप्रामाणिक होगा ये वाक्य को अप्रामाणिक करना ठीक नहीं ये कहना चाहते हैं ये कहा विपक्ष दोष महा है कहा उपमर्दित भी भेद प्रत्यय भेद बुद्धि नष्ट होने पर भी कर्मभ्यो न निवृत्त चेत कर्म से यदि निमित्त जाने पर भी कर्म करता हो यदि तो स्थिति में प्रागी को भेद प्रत्यय उपरदना जैसे पहले कर्म करता था भेद बुद्धि के नाश होने के पहले भेद बुद्धि काल में जैसे कर्म करता था भेद बुद्धि नष्ट होने पर भी वैसे कर्म अभी भी यदि करता हो तो एकत्व तो प्रत्यय विधायक वाक्य अपराम वाक्य में अपरामण फिर एकत्व तो विधायक जो वाक्य होगा सदैव एकमेव अद्वितीयम तत्सत्यवादी वाक्य अप्रामाणिक होने लग जाएंगे उसको अप्रामाणिक करना ठीक नहीं है ठीक है एकत्व तो प्रत्यय जनकम शास्त्रम न भवती है प्रमाणम पूर्वादि बोलता है एकत्व तो उत्पन्न करने वाला शास्त्र जो है ना वो प्रामाणिक वाक्य नहीं है वो वो तो उपासना आदि के लिए है वास्तव में वो नहीं तत्व आदि वाक्य प्रामाणिक नहीं है अर्थवाद है जैसे छोटे को बड़ा कहते हैं जैसे काम हो जाता अपराध है एक चपरासी को बाबूजी बोलेंगे तो कुछ हो जाए कुछ काम चलेगा नहीं तुम ब्रह्म हो कहा बस उसको प्रशंसा भी दिया है तो प्रामाणिक नहीं अर्थवाद है ऐसे बोलते हैं लोग यही कहना चाहता है पूर्वाद यही बोलता है <clears throat> एकत्व तो प्रत्यय जनकम शास्त्र एकत्व तो बुद्धि उत्पन्न करने वाला जो शास्त्र है वह न भगवती ये प्रमाणम प्रमाण नहीं होता वो पूर्व प्रवृत्त भेद प्रत्यय विरोधा पूर्व में जो प्रवृत्त भेद है पहले भेद बुद्धि थी उसके साथ विरोध है वो भेद बुद्धि है कैसे अभेद होगा इति मतम महासंख्या ऐसे मत को लेकर के उत्तर देते हैं अरे बाबा तुम्हारे यहाँ भी हाँ, क्या अभक्ष भक्षण आदि प्रतिषेध वाक्य नाम अभक्ष को भक्षण नहीं करना चाहिए ऐसा प्रतिषेध करने वाला वाक्य को प्रमाण मानते कि नहीं मानते तो जैसा वो प्रमाण है तो ये भी एक प्रमाण है तत्वसी आदि वाक्य भी अवेद बताने वाला भी कहा सामान्यवत युक्तम एकत्व से भी एकत्व वाक्य से भी प्रमाण्यम कहा ठीक है यथा न कलंजम बक्षेद इत्यादि वाक्य आया तो इत्यादि शास्त्रम पूर्व प्रवृत्त कलंजादि भक्षण प्रत्यय विरोधे थी पहले प्रवृत्त था कलंजादि भक्षण करता था ये वाक्य सुनने के पहले तो उस वाक्य की बुद्धि का विरोध होने पर भी प्रमाण रागा रागा प्रमाणम विरोधे भी प्रमाणम रागा दोषा तस्य प्रत्यय से अप्रमाण पहले प्रमाण मानता था किंतु ये जो न कलज्ञ मक्षेद आदि प्रमाण वाक्य क्या करेगा राग आदि दोष से उसके प्रत्यय से अप्रमाण वो राग आदि दोष के कारण खाता था उपलंज आदि उसकी निवृत्ति हो जाती है तथा ही वह भेद प्रत्यय से अविद्या उत्थवाद भेद ज्ञान अज्ञान से उत्पन्न है भेद बुद्धि जो होती है अज्ञान काल में होता है उत्थत्वाद प्रामाण्य संभवात हाँ। भेद प्रत्यय से अविद्या उत्थत्वा प्रामाण्य समाज इसलिए अवैध ज्ञान प्रामाण्य हो जाता है तद विरोधे भी अद्वैत शास्त्र से उत्तम में प्रामाण्य कहा इसी प्रकार भेद प्रत्यय से अविद्या उत्थत्वा प्रामाण्य संभवाद भेद प्रत्यय में प्रामाण्य संभव होने से तद विरोधे भी भेद प्रत्यय का विरोध होने पर भी पूर्व भेद प्रत्यय प्रमाण मान के चलता था उसका विरोध होने पर भी अद्वैत शास्त्र से उत्तम में प्रामाण्य जैसे न कलंजम राग आदि से प्राप्त होने पर पहले करता था बाद में नहीं करेगा प्रमाण हो जाता तो वाक्य न कलंजम वाक्य प्रमाण होता है उसी प्रकार एकत्व तो बोधक शास्त्र भी प्रमाण हो जाता है पूर्व पक्ष कहता है मीमांसकों का कहना कार्यपरत्वात अद्वैते तात्पर्याभावात उतस तत्शास्त्र से प्रामाण्यम कहते हैं जो वेद होता है कार्यपरक होता है आमना क्रिया तत्वात अनर्थकम अतत अर्थान मीमांसा में सूत्र बनाया है जो तो उपदेश जो किया जाता है ना वो क्रिया के लिए है उपदेश जो किया जाता है कोई ना कोई क्रिया लगनी चाहिए ये एकत्र तो विधायक शास्त्र में क्रियापद नहीं है क्रिया लोट लिंग अभ्यथित प्रत्यय होना चाहिए स्वर्ग काम हो एजेता सुनेगा एजेता सुना तो प्रवृत्ति जनक वाक्य हो आगे प्रवृत्ति गाएगा घटो वास्ती सुनने पर उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी सुना चुपचाप हो जाएगा तो वस्तु का बता केवल वस्तु स्वरूप बताने वाला वाक्य है प्रवृत्ति नहीं करा सकता है माने साथ उपदेश सुनने के बाद में कुछ उसमें प्रयत्न आना चाहिए कुछ काम होना चाहिए कोई वाक्य प्रमाण होते हैं आम ना से क्रिया होता तो वेद उपदेश जो होता है क्रिया के लिए है माने श्रोता को क्रिया पैदा कराने के लिए है जैसे एजे तो सुनेगा स्वर्ग का तो वो यज्ञ के लिए तैयार हो जाता है ऐसे वाक्य प्रमाण होते हैं जिसमें लोट लकार का प्रयोग हो बिदरिलिंग का प्रयोग हो तबियत आदि का कृत्य प्रत्यय का प्रयोग हो वो वाक्य प्रमाण है जो तत्वशी आदि में लट लकार का प्रयोग दिखाई पड़ता है असी लट लकार है वो प्रामाणिक नहीं है ऐसा बोलते हैं आमनाय से क्रिया तत्व कार्यपरत्व कार्यपरत क्रिया तत्व अनर्थक्यम अर्थात अर्थाना बोला है कार्यपरत्वात अद्वैत तात्पर्य भावा क्योंकि जो उपदेश होता है क्रियापरक होता है तो अद्वैत में तात्पर्य में रखा वाक्य तत्वसी आदि बात है इसलिए कुतः तत्शास्त्र ब्राह्मण फिर अद्वैत बोधक शास्त्र में ब्राह्मण कैसे आएगा ऐसा पूर्वादि की शंका होगी इसको उत्तर में कहा सर्वोपनिषदाम तत्पर अपराध करें सारे उपनिषदों का तात्पर्य उस अद्वैत में ही है द्वैत में तात्पर्य नहीं द्वैत स्वाभाविक है शास्त्र का तात्पर्य अद्वैत में है तो द्वैत तो जो पढ़ा लिखा नहीं है गंवार भी है वो भी समझ रहा है उसके लिए कोई शास्त्र की आवश्यकता थोड़ी है अद्वैत में तात्पर्य ये कहा कैसे पता लगता है सारे उपनिषदों का और द्वैत तात्पर्य कहते हैं उपक्रम उपसंहार ऐक्य रूपया आदि तात्पर्य लिंग दर्शनाथ वेद के सारे कुछ तात्पर्य निर्णय करने के लिए सरलिंग होते हैं उपक्रम कहाँ से हुआ और उपसंहार कहां जाके होगा दोनों को लेकर के एक वाक्य हो जाता है उपक्रमोपसंहार अभ्यास किसका चल रहा है अपूर्वता किसमें है फल क्या है अर्थवाद का क्या बोलता है और उपपत्ति ज्ञान कैसा होता है युक्ति उपपत्ति मान युक्ति ये छह को लेकर के वेद का सारे विभाग का निर्णय किया जाता है एक एक प्रकरण का निर्णय किया जाता है ये कहा उपक्रम उपक्रम उपक्रम उपसंहार ऐक्य इत्यादि षडलिंग विधान तात्पर्य लिंग दर्शनाथ ऐसा तात्पर्य देखने से अद्वैतीय तात्पर्य अद्वैत में तात्पर्य सिद्ध है तासाम माने सर्वोपनिषदाम तासाम सर्वोपनिषदाम सारे उपनिषदों का अवशीयते अद्वैते तात्पर्य अवशीयते निश्चीयते तासाम माने सर्वोपनिषदाम सारे उपनिषदों का तात्पर्य उसी अद्वैते तात्पर्य अवशीयते माने निश्चीयते कहा तद युक्तम अद्वैत शास्त्र से स्वार्थ प्रामाण्य इसलिए ठीक है ये अद्वैत शास्त्र में स्वार्थ में प्रमाण होना ठीक है यही सिद्ध कर दिया आगे और कहेंगे

ओम कल अवकाश